अभी आज अगर हमको कोई रोग है या हमारे गांव के लोगों को कोई रोग है तो उसकी औषध कैसे करना चिकित्सा कैसे करना किस रोग में क्या औषध देना ये आज मैं बताने वाला हूँ और इसमें उन्हीं रोगों को मैं बताने वाला हूँ जो गाँव में बहुत होते हैं क्योंकि आपको वही रोगों से दो चार होना पड़ेगा और मैं जो बताऊंगा वो ऐसी चिकित्सा है जो कोई भी व्यक्ति अपने घर से करे उसके लिए भी बाजार में ही जाना पड़े उसे ऐसी चिकित्सा होम्योपैथी में दो चिकित्साएं होती हैं एक तो होती है रसायन और द्रव्य चिकित्सा रसायन और द्रव्य चिकित्सा में जितनी भी औषधि है वो आप घर में नहीं बना सकते वो बाजार से ही लानी पड़ती है उसमें स्वर्ण भस्म लगती है चांदी की भस्म लगती है पारे की भस्म लगती है कई तरह की पिष्टी लगती है मोती पिष्टी लगती है कई तरह तो ये घर में संभव नहीं है तो इसलिए आयुर्वेद की वो चिकित्सा में किसी को नहीं बताता क्योंकि वो कर नहीं सकते करेंगे तो कहीं पुणे जाना पड़ेगा बम्बई जाना पड़ेगा औषध लानी पड़ेगी औषध भी बहुत महंगी है तो इसलिए आयुर्वेद की दूसरी चिकित्सा है जड़ी बूटी चिकित्सा पेड़ पौधों से होने वाली चिकित्सा वो सब गाँव में संभव है क्योंकि हर गांव में सभी तरह के पेड़ पौधे हैं और उससे वो चिकित्सा हो सकती है तो उसके लिए क्या क्या रोग और क्या क्या चिकित्सा हम करें वो बताऊंगा और थोड़ी कुछ होम्योपैथी औषध का भी बताऊंगा जो आपके बहुत काम आए अगर आपने वही करना शुरू कर दिया तो आपका लोग सम्मान करने लगेंगे आपका सम्मान हो गया तो फिर आपके सब काम होंगे वो चिकित्सा इतनी अच्छी है तो मैं एक एक रोग से शुरू करता सबसे खराब रोग जो गांव गांव में इस समय है बहुत गांव में है पहले वो रोग शहर का माना जाता था शहर के श्रीमंत लोगों में होता था अब गरीबों में भी आ गया वो रोग है डायबिटीज मधुमेह तो मधुमेह जो है डायबिटीज जो है इसकी चिकित्सा कैसे करना स्त्री हो या पुरुष दोनों के लिए मधुमेह की जो चिकित्सा है जो स्वयं पाक घर से हम कर सकते हैं उसमें तीन चीजें लगती है मेथी भी जाम्बुड़ भी जाम्बुड़ और कारला करेला दोनों हाँ पूरा कारला ही चाहिए अब इसमें करना क्या है कि जामुन का भी खरीद लीजिए या जिसको है उसको गोली मिलता है तो बहुत अच्छा तो जिसको भी डायबिटीज है उसको बोलने का भाई जामुन का भी लेने का ऐसे ही कारला कारला के अभी आजकल सीजन है तो दो चार किलो पांच किलो दस किलो तक खरीद के रख सकते हैं छोटे टुकड़े उसके करना उसके छोटे छोटे टुकड़े करना और धूप में सुखाना सुखाने के बाद उसको पीसना पीसने के बाद तो करला जो है ना कारला उसको छोटे छोटे टुकड़े करना धूप में सुखाना खूब अच्छा सूखने के बाद पीसना आसान होता है तो पीस लेना तो उसका पाउडर बन गया तो बी का पाउडर कारला पाउडर दोनों बराबर मात्रा में मिलाना 100 ग्राम ये तो 100 ग्राम वो 200 ग्राम ये तो 200 ग्राम वो 300 ग्राम ये तो 300 ग्राम बराबर मात्रा में मिलाना इसको डिब्बे में भर के रखना और इसको भोजन के आधा घंटे के बाद या भोजन से आधा घंटे पूर्व इसको खाने का है अभी इसको खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो जामुन के बी का पाउडर और कारला का पाउडर दोनों मिला लिया है उसमें से एक चम्मच मुंह में डालना एक चम्मच संप्रमण नहीं मैं थी बाद में तो ये जो जामुन के बी का पाउडर कारला के बी का पाउडर ये दोनों मिला लिया बराबर मात्रा में अब इसको एक चम्मच मुंह में डालना और उसको मुंह में चूसना सबसे अच्छा तरीका ये है सुबह भोजन के या तो आधा घंटे पहले या तो आधा घंटे बाद आधा घंटे बाद भी कर सकते हैं आधा घंटे पहले भी कर सकते हैं इसको दिन में दो बार जब भी भोजन करते हैं या तो आधे घंटे पहले या और अगर तीन बार भोजन करते हैं तो तीन बार नाश्ता है तो नाश्ते के आधा घंटे या तो पहले या आधा घंटे बाद भोजन के आधा घंटे पहले आधा घंटे बाद तो ये मुंह में डालना इसको चूसना तो लार बनेगी लार के साथ ही अंदर जाएगा तो सबसे अच्छा और जो किसी को तकलीफ है तो ये पाउडर को गर्म पानी में मिला के पानी पी सकते हैं यह एक तीसरा पद्धत है कि इसको मुंह में डालकर पीछे से भी गर्म पानी पी सकते हैं अब मैथी बी भी मैंने बोला था मैथी बी का क्या करने का है कि रात को मेथी भी पानी में भिगोना दो चम्मच एक गिलास पानी कोमट होगा अच्छा है गर्म हो और भी अच्छा है उबाला हुआ पानी होगा तो सबसे अच्छा ठंडे पानी में वो बराबर गलेगा नहीं और असर भी कम रहेगा कोशिश करिए प्रमा वो दो चम्मच एक गिलास पानी अब ये आपने भिगो के रख दिया रात को सवेरे इस मेथी बी का पानी पीना घूट घूट और मेथी बी को चबा के खाना ये तो सुबह सुबह करना है खाली पेट सुबह सुबह खाली पेट ठीक है ये तीन उपाय हैं अगर कोई भी करेगा लगभग तीन महीने में डायबिटीज ठीक करेगा दोनों मैथी भी को सवेरे खाना खाली पेट और भोजन के आधा घंटे पहले या आधा घंटे बाद जाम्बू भी का पाउडर और करेला का पाउडर दोनों मिला के एक एक चम्मच दोपहरी और संध्या काले हाँ डायबिटीज में दो होते हैं एक होता है डायबिटीज इम्पीटस एक होता है डायबिटीज मेलिटस इसमें प्रकार का मतलब यह है कि एक डायबिटीज है जो आनुवंशिक है पिताजी को था आई को था बाबा को था तो बेटे को भी हो गया बाबा के बाबा को था उनको हो गया ये है आनुवंशिक ये कभी भी ठीक नहीं होता हम्म। ये क्या है कंट्रोल होता है ठीक नहीं होता आप इसको बोलोगे मूल से खत्म होगा कभी नहीं होगा इसलिए जिनको आनुवंशिक है उनको पूरी जिंदगी ये खानी पड़ेगी जामुन की भी करेले का पाउडर मेथी लेकिन जिनको आनुवंशिक नहीं है उनको ठीक होता है आई बाबा को नहीं था और हमको हो गया है तो बराबर ठीक होता है तो एक है आनुवंशिक दूसरा है आनुवंशिक नहीं तात्कालिक एक को तात्कालिक कहते हैं एक को आनुवंशिक कहते हैं अब डायबिटीज क्या है ये जरा समझ लीजिए आप रोग के बारे में अगर माहिती हो तो बहुत अच्छा है वो ब्लैक बोर्ड आया क्या एक चौक और ब्लैक बोर्ड ले आओ यार जरा क्योंकि आपको ठीक से समझाना है आप ठीक से समझ लेंगे ना तो दूसरे को समझा सकेंगे और अगर समझ गया दूसरा आदमी तो इलाज अच्छा होगा इलाज अच्छा होगा तो परिणाम अच्छे होंगे तो आपका काम अच्छा होगा ले आओ ले आओ चौक भी है ना इसको पूछिए दर्द कम हुआ अभी शाम तक इसका बंद हो जाएगा रुकना बिल्कुल लेकिन फिर भी आप इसको एक एक्सरे करा लीजिए हाँ, हाँ, हाँ, ये दर्द तो दर्द तो अभी बंद हो जाएगा मुश्किल से अभी पंद्रह बीस मिनट में दर्द पूरा बंद हो जाएगा हम्म। तो और अभी अभी इसको अर्धा तास तक पानी नहीं पिलाना कुछ भी नहीं अर्धा तास नंतर मुनप्पा यलप्पा ये दवा रख लो इसका बच्चे का घर देख के आओ इसका शाम को भी इसको यही दवा देनी है जरा घर देख लो उसका जाके तो हाँ आ गया ब्लैक बोर्ड आ गया डायबिटीज क्या है तो डब्ल्यू बी सी माने व्हाइट ब्लड सेल्स श्वेत रक्त कणिकाएं ठीक है और उसको कारण को समझ में नहीं आता क्यों नहीं आ रही है सोने की कोशिश करता है झोंक नहीं आती है बेचैनी रहती है मन में तो समझो डायबिटीज हो गया है चौथा लक्षण इसका यह है कि उस व्यक्ति को कभी भी कोई चोट लग जाए तो जल्दी ठीक ही नहीं होती घाव भरता नहीं जल्दी चोट ठीक होती नहीं जल्दी तो समझ लो कि उसको डायबिटीज है और अगर उसको चोट लग जाए और रक्त शुरू हो गया निकलना तो रुकता नहीं जल्दी रक्त प्रवाह सतत चालू रहता है तो समझ लो डायबिटीज हुआ है ये पांच लक्षण से आप पता कर सकते हैं ये कैसे पता चले अगर शुगर लेवल बहुत हाई है तो वजन बहुत तेजी से कम होगा वो कहेगा मेरा एक ही महीने में चार किलो वजन गिर गया पांच किलो गिर गया पता नहीं चलता क्या हो गया तो समझ लो शुगर बहुत हाई है और थोड़ी सी भी चोट लगे और बहुत ज्यादा रक्त निकल जाए भल भल भल भल तो समझ लो बहुत हाई डायबिटीज है शुगर बहुत हाई और बाकी सामान्य है तो बाकी तीन लक्षण आएंगे पानी का प्यास सतत लगेगा जल्दी से मुंह नहीं सूख वो माने संतोष नहीं होता पानी पीने पे कभी भी उसको लगता अभी पानी पिया फिर पीऊ फिर पीऊ फिर पीऊ और एक सबसे अच्छा लक्षण है कि अगर वो लगनी के लिए जाता है मूत्र के लिए जाता है तो जैसे ही उसने मूत्र किया तुरंत कहीं से मोंगड़ी मोंगड़ी उसके मूत्र पे आ गए तो समझ लो डायबिटीज पक्का लघवी किया तो उसके लघवी पे मोंगड़े मोंगड़ी आ गए तो समझ लो कि जबरदस्त डायबिटीज है मोंगड़े और मोंगड़ी तभी आते हैं लघवी पे जब शुगर बहुत ज्यादा होती है चक्कर आएगा चक्कर आना जो है ना दोनों में होता है हाई में भी होता है लो में भी होता है लेकिन ज्यादा चक्कर बहुत आएंगे तो बहुत कम शुगर होगा तो चक्कर आना इसका उल्टा है अब ये तो हाई हो गया अगर लो है शुगर बहुत कम हो गई है तो समझ लो चक्कर बहुत आएगा घड़ी घड़ी चक्कर आएगा खड़े होगा घूमेगा वो कहेगा मैं बैठ जाऊं अभी गिर पड़ूंगा कमजोरी बहुत आएगी उसको तो वो लो है सूझ आती है सबको नहीं किसी को आएगी किसी को नहीं सूझ में मत फंसिए क्योंकि सूझ जो है ना कई बार लीवर से भी आती है तो सूझ पे जाएंगे ना तो कंफ्यूजन होगा जो परफेक्ट सिम्टम है वो यही है चक्कर आना बहुत कम हो गया शुगर और दूसरा अगर बहुत जास्ती है तो मूत्र किया लघवी किया तो मोंगड़ी मोंगड़ी आ जाएंगे और वजन कम हो रहा है बिना किसी कारण वो बोलता मेरे समझ में नहीं आता इतना खाना खाता हूँ फिर भी वजन कम होता जाता झोंक नहीं हो रही है ठीक से जखम झाले नहीं जखम होने पे भरता नहीं जल्दी रक्त निकले तो बंद नहीं होता जल्दी ये सब डायबिटीज वो भी पता चलेगा वो खुद ही कहेगा खूब जाड़ा है फिर भी कहेगा मेरा वजन कम हो गया दो महीने में तीन महीने में वो खुद ही कहेगा डायबिटीज के पेशेंट को बराबर समझता मेरा वजन कम हो गया और एक सिम्टम और है वो मैं आपको बता दूं कि जो भी ये शिकायत करे कि मैं मेरी पत्नी के साथ ठीक से नहीं रख पाता हूं संबंध तो समझ लो उसको या तो डायबिटीज है या होने की तैयारी है क्योंकि डायबिटीज होने पर सबसे ज्यादा अशक्ति आती है और शारीरिक संबंध रखना बहुत ही तकलीफ होता है उसके लिए हो ही नहीं पाता नपुंसकता आ जाती है डायबिटीज से सबसे तेज जो बीमारी आती है वो नपुंसकता आती है इसलिए डॉक्टर जिनको भी डायबिटीज होती है कहता है शारीरिक संबंध बंद कर दो जब तक ये ठीक नहीं होता अब उसमें क्या होता है कि कई बार लोग बताते हैं कई बार छुपाते हैं स्त्रियों को भी ऐसे ही होता है जो पुरुष को वो स्त्री को वैसे कम शुगर है अगर आपको पता चल जाए जैसे मैंने कहा ना चक्कर बहुत आ रहे हैं तो ये औषध देने से पहले उसको एक परीक्षण कर लो उसको बोलो कि जब चक्कर आते हैं तो गुड़ का पानी पी लो गुड़ में पानी में गुड़ मिला के थोड़ा नींबू का रस मिला के थोड़ा नमक मिला के उसको बोलो पी लो तो पीते ही वो कहता है मुझे बहुत अच्छा लगा तो समझ लो उसको एकदम लो शुगर है पीते ही अच्छा लगना चाहिए उसको तो पक्का हो जाएगा कि लो अगर लो है तो उसको बोलो यही पीते रहो दिन में तीन चार बार उससे भी तीन चार महीने में ठीक हो जाता है ये कुछ भी औषधि ना दे लो को वो नहीं देना है जो पहले बताया मेथी का भी नहीं देना उसको कारला नहीं देना है जामुन का भी वो हाई वाले के लिए है लो वाले को सिर्फ ये देना है गुड़ पानी में मिला के नींबू का रस और थोड़ा मीट उसको बोलो दिवस में चार पांच बार पियो छह बार पियो मीट बहुत थोड़ा मीट बहुत थोड़ा नींबू जास्ते गुड़ जास्ते और पानी अच्छा उनसे कहो कि गुड़ रखो क्योंकि ये शक्कर से ही तकलीफ आती है उनको कहो गुड़ रखो नहीं तो काकवी रखो ठीक है अब एक हाँ मैथी हम्म। नहीं देना तब और लो हो जाएगा तब तो मर जाएगा बेचारा इसलिए मैथी करेला और ये जो बोला मैं आपको जामुन का भी ये हाई वाले को ही देना है लो वाले को देना नहीं आपको अगर शंका हो रही है कि इसको लो है कि हाई तो मैंने कहा कंफर्म कर लो ब्लड टेस्ट करे तो ठीक है नहीं करे तो बिना ब्लड टेस्ट किए का बात बताता हूँ उसको बोलो गुड़ का पानी पियो नींबू डाल के मीट डाल के और मुझे बताओ कैसा लगा तो वो कहेगा यार बहुत अच्छा लगा तो समझ लो उसको हाई नहीं है लो है तो फिर जैसे ही हाई है तो वो नहीं देना मेथी नहीं देना ये नहीं देना ये नहीं देना हाँ ये दे सकते हैं लेकिन इसकी मात्रा कम करना दो या एक गोली बहुत होता है थ्री नहीं ये three X six X twelve X तो उससे इन लगाने का कि वो आदमी को कितने दिनों से है अगर तत्काल हुआ है तो बारह एक्स ठीक है देर से है आठ साल हो गया पांच साल हो गया तो थ्री एक्स ठीक है और बीच का है तो छह एक्स अब इसमें जो महत्व की बात है डायबिटीज में सबसे महत्व की बात पथ्य अगर पथ्य पालन नहीं किया तो डायबिटीज कभी ठीक नहीं होता पथ्य बहुत जरूरी है तो पथ्य क्या है दूध की बनी कोई भी चीज नहीं खाना मैं बता रहा हूँ हाई शुगर जिनको है शक्कर बहुत बड़ी हुई है कि दूध और दूध की बनी कोई चीज नहीं खाना दही है ताक है तूप है घर का भी अगर खाना हो तो शाही निकालना पहले उसकी शाही निकाल के तीन बार निकालना एक बार उबाला तो शाही निकाला फिर दूसरी बार उबालना फिर शाही निकालना फिर तीसरी बार पूरी निकलना तब उसका दही बनाना और वो दही का पाक बना के पी सकते हैं दही भी नहीं उनको ये औषध बिल्कुल बराबर ठीक कर देगी कभी बहुत हाई हो जाता है कभी बहुत लो हो जाता है उनके लिए ये औसत बराबर है ये इनका मैं बताता हूँ क्यों खाता पहले ये सुन लो आप कि हम कभी भी डायबिटीज के किसी भी मरीज को कुछ भी बताएं से बहुत जरूरी है बताना उसको कहना है कि आप दूध और दूध की बनी सब चीज खाना बंद करो मैंने तूप नहीं खा सकते तेल ज्यादा नहीं खा सकते टिकट ज्यादा नहीं खा सकते तेल टिकट हाँ तूप अकेला नहीं तूप के नीचे की कोई भी चीज मक्खन है ताक है दही है सूप नहीं भाई सूप से नीचे सब सूप और सूप से नीचे सब दूध से जो भी बनता है वो तो बिल्कुल नहीं खा सकते और शुगर माने शक्कर माने चीनी वो नहीं खा सकते गुड़ खा सकते टिकट तो बिल्कुल नहीं गुड़ खा सकते हैं काकड़ी खा सकते हैं शक्कर नहीं खा सकते ये दो पक्ष बहुत जरूरी है दूसरा पक्ष उसको है कि देर रात में वो खाना नहीं खा सकते जिनको भी डायबिटीज है सूर्यास्त के पहले ही खाना होना उनका सवेरे का खाना आठ नौ बजे शाम का पांच छह बजे ये बहुत गलत नियम है हर डायबिटिक पेशेंट को हाँ बिल्कुल नहीं बाकी वो चाहे तो फल कोई भी खा सकते हैं फल का रस ले सकते हैं फल मीठा हो या खट्टा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आम खा सकते हैं केला खा सकते हैं अनार खा सकते हैं संतरा ले सकते हैं मौसमी ले सकते हैं फल कोई भी ले सकते हैं मिठाई नहीं मिठाई माने गुड़ वस्तु शक्कर की तो बिल्कुल नहीं लेना हो तो गुड़ की थोड़ी ले सकते हाँ नहीं फल की शुगर है वो कभी भी रक्त को पातला ही करती है घट नहीं करती वो जो कारखाने की बनी हुई शुगर है रक्त को घट नहीं करती फल के अंदर जो शुगर है फल का रस है ना उसमें भी शुगर है सभी फलों में शुगर है केले में है आम में है संतरे में है चीकू में है सभी मीठे गोल फलों में शुगर है लेकिन वो शुगर रक्त को पातला रखती है क्योंकि वो भगवान की बनाई हुई है वो शुगर कारखाने में आदमी की बनाई हुई है वो रक्त को घट करते है खड़ी शक्कर ठीक है लेकिन खड़ी शक्कर बनती है ना तो उसमें कुछ केमिकल नहीं है और इसमें केमिकल ही केमिकल नहीं उससे नहीं खड़ी शक्कर बहुत अच्छी औषध है बिल्कुल नहीं रहता बनेगी ही नहीं केमिकल से खड़ी शक्कर केमिकल डालो तो शक्कर छोटी हो ही जाती है बड़ा रह नहीं सकते क्रिस्टल उसका टिकने का है तो बिना केमिकल के ही टिकता और डायबिटीज के बारे में सब समझ में आया कि नहीं अब प्रश्न पूछो आप कमी शक्कर है तो उसको बोलो ना गुड़ और पानी और नींबू और मीट मिला के हाँ उसको कोई पक्ष नहीं है वो भरपूर खाए दूध खाए दही खाए सूप खाए पाक खाए उसको क्योंकि तो रक्त इसका जरूरत से ज्यादा पातला है जिसको शुगर कमी है ना तो रक्त जरूरत से ज्यादा पातला है वो घट करने का है थोड़ा तो इसके लिए तूप दूध दूध सब तो उल्टा जब होता है शुगर जब तो वो डबल लेके जाता है जब ये शक्कर की मात्रा ग्लूकोज अपने जरूरत से ज्यादा अंदर ले जाएगा तो ब्लड में शक्कर कम हो जाएगी तो रक्त में कम आएगी तपासनी तो करोगे तो तो वो हाइपर एक्टिव हो जाता है घोड़ा जिनको शुगर कम है उनको हाइपर ज्यादा काम करता है और जिनको हाई शुगर है उनको आलसी हो जाता है मैं थी हाँ अब मैं बताता हूँ पहले ये प्रश्न पूछ लो डायबिटीज का ये बहुत जरूरी है आपके दिमाग में बैठना चाहिए ताकि आप किसी को बता सकें मैंने एक उपाय बोला था कि जिंदगी में कभी भी डायबिटीज नहीं होगा अगर आप एक काम करें तो भोजन में सबसे पहले गोड़ वस्तु खाएं और अंत में खट्टी वस्तु खाने का आमबक वैसे ताप पीना चिंच का पानी पी लेना तो भोजन के हाँ नींबू का रस पी लेना नींबू का रस पानी में नहीं सीधे नींबू का रस आम्बट जितनी भी चीजें हैं जैसे संतरे का रस मुसम्मे का रस दालिम का रस नींबू का रस केरी का रस ये सब भोजन के अंत में और भोजन के पहले गुण वस्तु श्रीखंड है खीर है पेड़ा है लड्डू है बर्फी है जो भी है वो सबसे पहले ठीक है मीठा सबसे पहले खट्टा बाद में तो जिंदगी में कभी भी डायबिटीज नहीं है हाँ बताता वो एक उपाय हुआ ना डायबिटीज नहीं होगा दूसरा एक उपाय और है कि चावल या भाजी पाला कभी कुकर में बना के नहीं खाना प्रेशर कुकर अर्थात घर से कुकर निकाल देना कुकर में आप जो भी बना के खाएंगे डायबिटीज की तरफ लेके जाएगा भात भी नहीं भाजी पाला भी नहीं दाल भी नहीं जो भी भोजन बनाना बिना कुकर से ही बनाना अब उसमें आपको अपनी पत्नी को थोड़ा कन्विंस करना पड़ेगा क्योंकि उनको लगता है ये सुविधा है जल्दी पक जाता है ठीक है ये दूसरा नियम है कि कुकर में कुछ बना के नहीं खाना डायबिटीज से बचने के लिए हाँ ढक्कन निकाल दो और खाना उसमें जैसे पका जैसे भगवने में जैसे पकता है तो दिक्कत नहीं हाँ एल्यूमिनियम है वो तो खराब करेगा ही लेकिन इतना नहीं करेगा एल्यूमिनियम तो सभी बर्तन ही खराब हैं एल्यूमिनियम के बर्तनों का उपयोग करें तो कम से कम आठ दस रोग आते हैं सबसे खराब आता है अस्थमा दमा फिर ट्यूबर क्लोसिस ब्रोंकियल अस्थमा भाजी बनाना पीतल में या कांसे में या स्टील में जर्मन सिल्वर अगर है तो ठीक है जर्मन सिल्वर थोड़ी महंगी है शायद नहीं नहीं नहीं हाँ अलग अलग है लेकिन आप बोल के लाइए जर्मन सिल्वर का है क्या महंगा है थोड़ा लेकिन आप भोजन बनाए ना तो स्टील में बनाइए ना स्टील के बर्तन अभी आते हैं या तो सबसे अच्छा होता कांसे के बर्तन है बाजार में थोड़ा महंगा है बराबर कांसा मिलता है पीतल भी मिलता है चलेगा लेकिन कांसा सबसे अच्छा पीतल और तांगे से मिलकर बनता है कांसा मिलता तो है यार मेरे घर में सब है अब मैं ढूंढ के लाया तो आप भी ला सकते यहाँ पूना में खूब मिलता है कई बाजार में देखा पूना में भरपूर मिलता है सतारा में भी मिलता है आप बोलो दुकान वाले को तो अंदर रख के रहता है वो बाहर लाके देगा अच्छा आप मानते हैं हम्म? और आपका ये जो वो बजाते ना मंजीरा जब भजन करते झांझ वो सब कांसा और पीतल ही है स्टील का बनी नहीं सकता तो कांसे का बर्तन या पीतल का बर्तन एल्यूमिनियम हटाइए और एल्यूमिनियम का प्रेशर कुकर है इसलिए इसको भी कम करिए और प्रेशर कुकर का दूसरा कारण है जो डायबिटीज करता आयुर्वेद का एक नियम है वो मैंने कल बताया नहीं कि जो भोजन को सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श नहीं हुआ वो सब भोजन डायबिटीज करता जो भोजन को सूर्य का प्रकाश नहीं मिला और पवन का स्पर्श नहीं हुआ है वो खाओगे तो जरूर डायबिटीज होगा सूर्य प्रकाश हमेशा हर जगह रहता है घर में रहता है यहाँ भी सूर्य प्रकाश नहीं होता तो आप देख ही नहीं सकते सूर्य प्रकाश है जो आप देख पाते हैं नहीं चपाती करके थोड़ी देर रखना चाहिए खुला बाद में डिब्बे में पैक करना चाहिए तो पवन भी मिल जाएगा थोड़ा सूर्य प्रकाश भी जिस भोजन को सूर्य प्रकाश नहीं मिला वो वही भोजन है जो प्रेशर कुकर में आप बनाएंगे और जिसको आपने फ्रिज में रख दिया तो वही भोजन है जिसको सूर्य प्रकाश भी नहीं मिलेगा पवन भी नहीं मिलेगा तो ये अगर आपने खा लिया है तो आपको कुछ खाने की जरूरत नहीं बहुत जल्दी आप डायबिटीज के शिकार हो जाएंगे और तकलीफ में फंस जाएंगे सोलर कुकर का चलता है क्योंकि वो सब ओपन ही रहता है हाँ वो उसमें भी अभी दो आने लगे हैं एक तो एल्यूमिनियम का आता है एक में स्टील आने लगा है तो आप इस अगर सोलर कुकर खरीदें तो स्टील वाला खरीदें थोड़ा महंगा है लेकिन क्वालिटी अच्छी बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है हाँ क्योंकि सूर्य प्रकाश नहीं तो ये तीन बात ध्यान रखनी है डायबिटीज होगा नहीं एक तो आप शक्कर मत खाइए गुड़ खाइए काफी दूसरा गुड़ वस्तु हमेशा भोजन के पहले खाइए खट्टी वस्तु अंत में खाइए और तीसरा जिस वस्तु को पकाने में सूर्य प्रकाश नहीं मिला पवन स्पर्श नहीं हुआ वो मत खाइए प्रेशर कुकर की वस्तु या रेफ्रिजरेटर तीन उपाय जो भी करें वो डायबिटीज कभी नहीं आएगा और आ गया तो क्या करना वो बता दिया आयुर्वेद से क्या करना होम्योपैथी से क्या करना ठीक है और जिंदगी में डायबिटीज कभी ना आए या कोई भी रोग ना आए तो अरे भाई ऊर्जा आप इतनी चिंता मत करिए उसकी इधर कौन करेंगे इधर जेब से निकल रहा है आपके तो भोजन जो है ना जल्दी ही पकेगा अगर आप ऐसा करें जैसे दाल बनाने कल्पना करिए तो दाल को सवेरे गर्म पानी में डाल के रखिए तो एक दो तास रहेगा फिर उबालिए जल्दी बनेगा भाजी पाला का भी वही है तो आप ऊर्जा कम कर खर्च करें बचा सकते हैं ठीक है और एक तरीका है डायबिटीज से बचने का जब भी भोजन करें तो भरपूर सलाद खाइए सलाद माने कोशम्बरी हम्म। भरपूर थोड़ा बहुत नहीं एक प्लेट भर के दो प्लेट भर के जीवन के पहले हाँ पेट भर के खा लीजिए हाँ कोई भी काकड़ी गाजर टमाटर पत्ता गोभी कच्ची चीजें कोई भी खाइए कच्ची चीज खाइए ना अब इनका प्रश्न बार बार है